अब जैसे कि हमारे व्यास गुरु है श्री पराशर महाराज जी हमने उनसे आशीर्वाद लिया और सब बताया हम कौन है क्या है गुरु के सामने कुछ झूठ नहीं बोलना चाहिए उसे सब कुछ बताना चाहिए फिर वो आपको आशीर्वाद देंगे और फिर वो आशीर्वाद सामने आने लग जाता है छुपाने की जरूरत नहीं तो यहाँ पर जो इसने किया ना एक लव्यू ने ये गलत किया इसने चोरी से विद्या की इसलिए ये देखकर तो द्रोणाचार्य जी ने विचार किया इसने यह धर्म किया आगे और भी अधर्म करेगा इसलिए उसके सीधे हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में कटवा दिया अगर यही अंगूठा अगर अर्जुन का कटवा दिया जाता तो क्या अर्जुन बाण नहीं चला सकता था अर्जुन बाण चला सकता था अर्जुन का नाम है सोया साथी अर्जुन के अंदर ऐसी कला थी कि दोनों हाथ से धनुष पकड़कर बाण चला सकता था ये जो हीरो गन तो लेकर आ जाते ऑटोमेटिक ये तो ऑटोमेटिक है लोड कर वो था दोनों हाथ से चलती रहेगी लेकिन बाण फिर वो धनुष लोड करना तो कोई आसान बात नहीं है पर ये कला अर्जुन के थी अच्छा अर्जुन यही नहीं है अर्जुन युद्धा था अर्जुन तपस्वी भी था अर्जुन शांत भी था इसलिए तो अठारह अठारह अक्षरी सेना के अंदर गुरु द्रोणाचार्य हैं विश्व पितामा है इन सबको यहाँ के धर्म धर्मराज धर्मराज वहाँ पर युधिष्ठर के रूप में बैठे हैं लेकिन गीता का ज्ञान भगवान ने किसको सुनाया अर्जुन को सुना और भगवान ने नौवे अध्याय में कहा अर्जुन से अर्जुन तुम किसी से ईर्षा नहीं करते हो किसी से जलसी नहीं करते हो इसलिए गीता ज्ञान के योग्य तुम ही हो मैं तुम्हें ये गुप्त ज्ञान बतलाऊंगा बोला भगवान ने गीता के तो अर्जुन से किसी को मत मिला अर्जुन एक है और अर्जुन एक ही रहेगा और कोई अर्जुन नहीं आ सकता है हमारे सबके सनातन धर्म में तो ये है परम भक्त अर्जुन तो यहाँ पर माता द्रौपदी कह रही है सर्वश्रेष्ठ धनुधारी किसने कहा अरे इन्हीं के पिता ने तो कहा आपके गुरुदेव ने इसे मत मारो आपका और वो आपको पता होगा कि वो पेड़ पे चील थी लकड़ी की उसकी आंख में बाल मारना था सबको बुला लिया भाई तुम्हें क्या नजर आया कोई बोला पेड़ नजर आ रहा है कोई बोला फल नजर आ रहा है कोई बोला चिड़िया नजर आ रही है कोई बोला आंख नजर आ रही है और जब अर्जुन से पूछ लिया गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें क्या नजर आ रहा है बोले गुरुदेव कुछ भी नजर नहीं आ रहा मुझे तो केवल आंख ही नजर आ रही उस वक्त गुरु द्रोणाचार्य ने कहा था सर्वश्रेष्ठ जिसका तुम्हारा धनुर्हारी तो आज वही कह रही है माँ द्रौपदी इसे छोड़ दो इसे मारने से मेरे मरे हुए बच्चे तो वापस नहीं आ सकते मेरे सर पर तो आप पांच पांच हो और ये अपनी माँ कृपी कौन थी माता कृपी थी द्रोणाचार्य की पत्नी माँ कृपी कृपाचार्य की बहन थी ये अपनी माता कृपी का एक लोता है ये मर जाएगा तो इसकी माँ का क्या होगा छोड़ दो नकुल सहदेव युधिष्ठर ने कहा अर्जुन द्रौपदी ठीक के पीछे छोड़ दे पर ये बात भीम को ठीक नहीं है भीम अपने दांत पीस रहे और दांत पीसते हुए गधा को जमीन पर धड़ धड़ धड़ मारने लगे कोने से कर रहा है अपनी गधा को जोर जोर से जमीन पर मारने लगे उस वक्त भीम ने कहा कि मेरे भाई अर्जुन तुमने सोमन खाई इसके सर काटने हैं और अगर तुम इसका सर नहीं काटोगे तो तुम झूठे कहलाओगे और रही बात तुम के तो ये ब्राह्मण अब ये ब्राह्मण नहीं है इसने सोएवे बालकों को भी हत्या किया ये पापी है और पापी को मार देना चाहिए हमारे वैदिक इतिहास में वैदिक ग्रंथों में छह तरह के पापी बताए जिनको मार देना चाहिए लेकिन हमारा काम मारने का नहीं है गवर्नमेंट का काम है इतनी आप बोलो कथा में कह दिया प्रभु ने इनको मार देना चाहिए अब कहीं मार तो खुद भी कच्ची चीज हो गए और साथ में हम भी चले जाएंगे तो हमारा काम नहीं है गवर्नमेंट का काम है लेकिन हमारे धर्म शास्त्रों ने बताया पहला पापी कौन जहर देने वाला जहर चाहे वो वाला हो या मिलावट वाला जो हमको जहर दिया जा रहा है ये भी जहर है ये भी कौन है पापी है इनको भी मार देना दूसरा आग लगाने वाला आग दो तरह की लगती है एक किससे लगती है माचिस से और एक किससे लगती है जबान वाले ये आग लगाने वाले इनका भी वक्त कर देना चाहिए तीसरा हथियारों से आक्रमण करने वाले छुरी चाकू पिस्तौल डंडा छंडा जो कुछ भी है ये तीसरे तरह का ही है इसका भी वक्त कर देना चाहिए सोता धन लूटने वाला ये भी कौन है पाप की उसका वध कर देना चाहिए और पांचवा दूसरे की भूमि दूसरे के बच्चे और दूसरे की बीवी इसका हरण करने वाला ये भी पापी है इसका भी वध कर देना चाहिए और छठा पराई स्त्री संग करने अगर कोई पुरुष है वो पराई स्त्री संग करता वो पापी है और अगर कोई स्त्री है वो पराय पुरुष संग करती है वो भी कौन है पापी इसलिए इनका क्या कर देना चाहिए इनका वध कर देना चाहिए तो छह तरह के पापी है इसलिए यहाँ पर सिंह कह रहे इसने सोएवे बालकों की हत्या करी है ये पापी है इसका वध कर दो अब अर्जुन परेशान एक बोले मार एक बोले नहीं मार किसकी बात सुने भगवान कृष्ण वहाँ मौजूद है भगवान कृष्ण भी बोले हमसे सलाह नहीं मांग रहे तो हमको बोले दे क्योंकि हमारे बोल बहुत कीमती होते हैं अगर कोई बोलने को कहे तब बोलो नहीं बोलने को कहे वो बनकर खड़े रहो सलामत दो आपने देखा होगा आप रन करा रहे होंगे हाँ रन करवा ऐसा करवा देना ऐसा करो सलाह देने के लिए आपको हजारों लोग आए नहीं जब तक कोई सलाह ना कहे तब तक मत दी भगवान चुपचाप से खड़े जब हमसे कोई पूछ नहीं रहे तो हम क्यों बताए अर्जुन की दृष्टि अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार किया प्रभो इस समय समस्या से तो आप ही निकाल सकते हैं भगवान ने कहा क्या अर्जुन आपने हमसे कुछ कहा बोले जिस प्रकार हमने आपसे ही कहा है अब आप बताइए क्या करना चाहिए इसे छोड़ देना चाहिए इसे मार देना चाहिए भगवान किसी भी फोटो में आपको सीधे कभी नजर नहीं आए कैसे खड़े होते हैं टेढ़े खड़े होते और बात कैसी करेंगे टेढ़ी करेंगे तो बड़ा सुंदर श्लोक है ब्रह्म ब्रह्मबन्धुर्न हन्तव्य आततायि वदाहरण मैवो भयमानातम् परिपानुशासनम् न हंतव्य ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए अश्वधामा कौन है ब्राह्मण अर्जुन पापी को छोड़ना नहीं चाहिए तो अश्वधामा कौन है पापी ले अर्जुन को बोले लो कैसा मशवरा दे दिया हमको ब्राह्मण को मारो नहीं पापी को छोड़ो नहीं तो और समस्या में डाल दिया पीड़े भाई की टेढ़ी बात है लेकिन अर्जुन भी कोई आम नहीं है अर्जुन कौन है अर्जुन वो है जिनको अठारह अक्षुणी सेना में भगवान ने अपना चेला सुना किसके चेला अर्जुन कृष्ण के चेला ना भगवान के चेला है अरे जिसका गुरु इतना काबिल हो उसका चेला कितना हो अर्जुन ने बोला साहब चेले तो हम आपके ही टेढ़ी माँ की बात तो हम समझ जाएंगे आपकी अर्जुन समझ गया भगवान की टीढ़ी बात ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण का वध करने से ब्रह्म का पाप लगता है तो अर्जुन ने कहा अश्वत्थामा ब्राह्मण है और पापी को छोड़ना नहीं चाहिए तब भी हमें पाप लगेगा क्यों क्योंकि हम क्षत्रिय हैं पापी को सजा देना हमारा कर्तव्य है अगर कानून पापी को छोड़ देगा तो कानून ही पापी हो जाए पापी को नहीं छोड़ना चाहिए अर्जुन ने अर्जुन समझ गया कि अश्वत्थामा का अपमान कर देना चाहिए और अपमान बहुत खतरनाक चीज बताई महादेव तो कहते हैं भागवत महापुराण के चौथे स्कंद में बोले सती तीर तलवार का घाव यदि हो जाए शरीर में वो तो मरम से ठीक हो सकता है अगर कोई दुर्वचन कह दे उसका घाव ठीक नहीं हो सकता वो तो चुभन होती ही रहती है ये बात अर्जुन को याद आई इसे मारेंगे नहीं इसका अपमान करेंगे अर्जुन के तल, अर्जुन ने तलवार की नोक से तो उसके माथे में मणि थी उसको निकाल दिया उसके आधे सर को मुड़ दिया उसे जूतों का हार पहना मुंह को काला दिया और धक्के देकर अपमानित कर कर हस्तिनापुर से अश्वधामा को निकाल इस तरह अश्वधामा जीवित रहते हुए मृत्यु के योग्य हो सब प्रसन्न हो अर्जुन ने भगवान के सुनो में लिहाजा हमें किसी ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए यहाँ पर अर्जुन ने जो भी लीला करी उस वक्त भगवान श्री कृष्ण उनके पास मौजूद तभी अर्जुन ने सब कुछ किया और हमें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे अब एक दिन की बात भगवान श्री कृष्ण अपनी माता कौनती अपनी बुआ कौनती के चरणों में नमस्कार करते हैं बोले मैया मुझे द्वारिका से आए गए कई महीने बीत गए तो मेरे जो सारथी है दारूक जी और विदुर जी तो कह रहे हमें भी बच्चे याद आ रहे हैं तो भगवान ने कहा हम ये भी, भी बच्चे से मिले तो नमस्कार कर कर भगवान जा रहे हैं त्रिकू जी महाराज जी कहते क्या भगवान श्री कृष्ण की झांकी थी भगवान ने धुआ कौंती के चरणों में नमस्कार किया भगवान अपने रथ की ओर गए भगवान ने उल्टे हाथ से रथ को पकड़ा सीधे पग को रथ की सीढ़ी पर रखा और सीधे हाथ से भगवान सबको ऐसा आशीर्वाद दिया श्री सूर्य जी महाराज जी कहते हैं कि उस वक्त एक बाल विधवा है बाल विधवा यानी कि तेरह से चौदह साल में ये लड़की विधवा हो और ये कौन है ये है अर्जुन की बहू माता उत्तरा अर्जुन के बेटा थे जिनका नाम था अभिमन्यु अभिमन्यु के विषय में महाभारत की आदि परमा में लिखा है कि जब सब देवता अपने अपने हंस जब नीचे आ रहे थे तो कुछ देवता चंद्रमा के भाई चंद्रमा को कहा कि अपने बेटे को भी तो भेजो तो चंद्रमा ने कहा कि मैं अपने बेटे से बड़ा प्रेम करता हूँ मैं उसे नहीं भेजूंगा तो देवताओं ने कहा भाई जब भगवान जी भगवान का कार्य करने सब जा रहे हैं भेजना तो पड़ेगा बोले देवताओं ऐसा कुछ उपाय करो जिससे मेरा बेटा जाए और जल्दी आ जाए तो उस समय देवताओं ने कहा कि जब महाभारत का युद्ध होगा तुम्हारा ये पुत्र जो है ये अर्जुन का बेटा बनकर जाएगा ये चक्रव्यूह में जाएगा और चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ सकेगा और उसी चक्रव्यूह में ये वीर गति को प्राप्त कर कर जल्दी तुम्हारे पास आ जाएगा इसलिए अभिमन्यु वो छोटे थे तो अभिमन्यु चंद्रमा के पुत्र थे और यहाँ अर्जुन के बेटा बने इसलिए अभिमन्यु चले अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा जो कि गर्भवती हो गई और आज अपने अपमान का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मस्त्र दोबार से चला ब्रह्मस्त्र का पांच हंस ब्रह्मस्त्र बनाकर पांच पांडवों की ओर चला और ब्रह्मस्त्र का एक हंस माँ उत्तरा के पेट में चला गया क्योंकि उसके पेट में संतान थी और अश्वत्थामा को ये भी पता लग गया था कि पांडवों का वंश भी है मैं पांडवों को भी मारूंगा और वंश को भी खत्म करूंगा और माता उत्तरा के पेट में बड़ी तेज जलन होने लगती उस वक्त माता उत्तरा दोरी दोरी इसके चरणों में भगवान कृष्ण की पाही पाही महायोगिना देव देव जगत पते नान्यम तद भयनम पश्य यत्र मृत्यु परम पाई पाई करते जा हे योग हे अनंतनाथ हे जगतनाथ भगवान श्री हरि रक्षा करो रक्षा करो भगवान ने कहा हमसे रक्षा की मांग रही है ये तुम्हारे जो ससुर है पांच पांच ससुर है महाभारत का युद्ध किया उनसे पुकार करो उनसे रक्षा मांगो क्या माँ उतरा कहती है बोले प्रभु मेरे ससुर अर्जुन क्षण भर में सैकिलों में अरबों खरबों लोगों को मार सकते हैं लेकिन अपनी पूरी जिंदगी में किसी को जीवन दान नहीं दे सकते इसलिए आप मारने वाले भी हो आप बचाने वाले मैं आपकी करती हूँ धन्य माता उत्तरा जो भूल माता द्रौपदी ने की ना वो भूल माँ उत्तरा ने नहीं की जब उत्तरा के द्रौपदी के वस्त्र को खींचा जा रहा था तो अपने पतियों के पास गई मेरी रक्षा करो ससुरों के पास गई गुरुजनों के पास गई सभा सदस्यों के पास गई पर किसी ने उसकी रक्षा नहीं करी बाद में कृष्ण के पास आया हरे कृष्णा हरे कृष्णा तो बाद में जो है वो श्री कृष्ण के पास आई लेकिन ये गलती माता उतना नहीं की उसने करीब ससुरों के पास जाऊंगा तो लेकर इधर ही आएंगे ससुर जो है वो लेकर कहा आएंगे इधर ही आएंगे तो इससे जा खुद ही नहीं चले जाओ इनके पास माता उतरा भगवान के पास माँ उतरा कहती है नान्यम तद भयनम पश्य यत्र मृत्यु पराशन बोले मैं मर जाऊं मुझे गम नहीं पर मेरे पेट में मेरे पति की निशानी है आप उसकी रक्षा कीजिए भगवान का पेट में झांकू तो शरीर कौन है अब उस समय अल्ट्रासाउंड मशीन की क्या जरूरत थी तो भगवान है भगवान ने उसी झांके अरे भगवान ने का पेट में तो मेरा भक्त है तो भगवान से रहा नहीं गया भाई भगवान चाहते तो ऐसा इशारा कर देते रक्षा तो हो सकती थी भगवान ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि तुम जाओ और पांच पांडवों की रक्षा करो तो भगवान का भेजा हुआ सुदर्शन चक्र पांच पांडवों की रक्षा करने के लिए चला गया लेकिन यहाँ पर भगवान पेट में खुद जाएंगे तो जब उधर सुदर्शन चक्र से रक्षा कर सकते हो तो आपके पास तो गधा भी होती है शंख भी होता है तो कुछ बाहर से कुछ कर देते हैं जो उनकी रक्षा हो जाती है अंदर लेकिन यहाँ आपके दास कृष्ण किशोर जी कहते हैं भगवान ने सोचा नौ महीने दस महीने पता नहीं कब आएंगे कब इसका जन्म होगा कब मैं अपने भक्त को देखूंगा इतना समय कौन इंतजार करे भगवान से रहा नहीं गया भगवान इतने ललित हो रहे थे इतने ललित हो रहे थे अपने भक्त को देखने के लिए तो भगवान पेट में ही चले गए वास्तव में पेट में जाने की वजह क्या भगवान की रक्षा करनी नहीं है दर्शन करना है इसके भक्ति चतुर्भुज रूप में भगवान गए थे चार हाथ वाले भगवान बनकर गए हाथ में गधा जैसी ऊंचा के पेट में भगवान गए हैं परीक्षक जी ने भगवान को देखा तो परीक्षक को ऐसा लगा कि शायद माँ के पेट में कोई दूसरा बालक आ गया होगा हे बड़ा खूबसूरत परीक्षित जी और यहीं पर हमारा वैदिक इतिहास में एक इतिहास कायम हो गया वो ये माँ कौशल्या ने भगवान को पेट में रखा माँ कयादु ने भक्त को पेट में रखा एक धन्य माता उतरा जिसके पेट के अंदर भक्त और भगवान दोनों ही पेट में चले गए बोलो भक्त वत्सल भगवान की भक्त और भगवान दोनों जिसके पेट में गए वो है माता उत्तरा एक रूप से भगवान माँ उत्तरा के पास चढ़े बोले बेटी पेट की अग्नि शांत हो गई यहाँ भगवान ने पांडवों की भी रक्षा की अपने भक्त परीक्षित की भी रक्षा वातावरण वहां का शांत हो गया माता कोमती अपनी बहू की ओर देख रही है अपने बच्चों की ओर देख रही है माता कोमती से रहा नहीं गई और दौड़ी दौड़ी माता कोमती गई और श्री कृष्ण के चरणों में नमस्कार भक्त और भगवान में ये सिलसिला चलता ही रहता है कभी भक्त भगवान के चरणों में नमस्कार करते हैं और कभी भगवान अपने भक्तों के चरणों में नमस्कार करते हैं पहले किसके चरणों में नमस्कार किया भगवान ने माँ कौनसी के चरणों में नमस्कार किया और माँ कौनसी कौन है भगवान की भक्त है और अब कौन छोड़ कर गए अब भक्त गया भगवान के चरणों में नमस्कार माँ कौनसी श्री कृष्ण को भगवान भगवान भगवान के लिए लगी भगवान ने कहा भुआ जी क्या हो मैं भगवान कहा से मैं तो तुम्हारा भतीजा कौनसी ने कहा खामोश हो जाऊ जब मैं तुझे भगवान कहने जाती हूँ तो भूआ जी भूआ जी कर माया का पर्दा डाल देता है लेकिन आज मैं भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही किसको नमस्कार कर रही हूँ पूरे ग्रंथराज श्रीमद भागवत में कितने जनों ने स्तुति की है प्रहलाद ने की है नाग कन्या ने की है गजेंद्र ने की है कितने भक्तों ने भगवान की स्तुति की है लेकिन सबकी स्तुतियों में ऊंचा दर्जा भागवत में माँ कौनसी की स्तुति को दिया गया है छब्बीस श्लोकों में माँ कौंती ने स्तुति की है तो आइए कुछ श्लोकों को हम श्रवण करते हैं ये एक एक श्लोक वेद के मंत्र रहेंगे जिससे हम सब पवित्र हो जाएंगे इस पवित्र मंत्रों को उच्चारण करने से पहले जोरदार हरे कृष्ण महामंत्र की गुरु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो यहाँ पर किसे नमस्कार कर रही है बोले भतीजे को नमस्कार नहीं कर रही किसे नमस्कार कर रही है